मूसा ने कहा तुम फेंको चुनाचे जब उन्होंने अपनी लाठियां और रस्सियां फेंकी तो लोगों की आंखों पर जादू कर दिया उन पर दहशत तारी कर दी और जबरदस्त जादू का मुजाहरा किया